से अपने को साधक बनकर स्वीकार किया उस समय के बाद फिर कभी किसी प्रकार के साधन के काम में हाथ नहीं डालना चाहिए ठीक है जिस समय आपने वैवाहिक जीवन को स्वीकार किया अपने को गृहस्थ माना वैवाहिक संबंध में अपने को डाला उसके बाद फिर कभी यह ख्याल नहीं हुआ कि मैं विवाहित नहीं हूँ इसी तरह से बातचीत चलेगी कारोबार दूसरे ढंग से चलेगा जीवन में अवसाधन के रहते हुए किसी भी प्रकार की साधना कभी सफल नहीं होती है पहली बात तो यह है कि आप सभी सत्संग में आते हैं और अपने भीतर के दुख द्वंद को मिटाना चाहते हैं चिंता भय से मुक्त होना चाहते हैं चाहते हैं योगानंद चाहते हैं ब्रह्मानंद चाहते हैं चाहते हैं प्रेमानंद चाहते हैं ये सब हम लोग साध्य के रूप में है ये सब चाहिए अपने को ऐसा जीवन तो लक्ष्य है मेरा योगानंद प्रेमानंद और जीवन में सात हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं और फिर समय में फिर भागनी प्राचर बनते हैं तो एक बात तो आप सभी भाई ध्यान में रखिए इसलिए आप जानते हैं मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ लेकिन याद दिला रही हूँ आपको भी और अपने को मनुष्य होने के नाते अपने को साधक स्वीकार करना बहुत जरूरी है स्वामी महाराज ने तो यहाँ तक कहा अपने को साधक स्वीकार नहीं करता है और साधक के ढंग की जिंदगी नहीं बिताता है वो तो मनुष्य की संज्ञा से हीन हो गया वो तो प्राणी संज्ञा में मनुष्य के जीवन की महत्ता तभी सरकार होती है जबकि वह अपने साधक बनकर स्वीकार करें उन्होंने यूँ लिया है मानव मैंने साधक साधक मैंने मानव मानव शब्द से जिसको संबोधित किया जाता है तो हर पीढ़ी उनको साधक होकर रहना चाहिए एक बात इस हिसाब से हमने क्या करना है कि पीछे की बात छोड़ दीजिए अगर हमने जो किया ठीक है सत्संग तो सुना तो उसका भी प्रभाव है संतों के पास बैठे तो उसका भी अपनी प्रभाव है सब को पढ़ा तो भी अपने प्रभाव है और उन सारी बातों को ले करके आज हम लोगों ने साहस किया है कि हम अपने को सागर बनकर तुम कौन हो तो मैं हूँ होने का एक बड़ा नहीं इस का एक बड़ा यह होना चाहिए कि शरीरों विवेचना करने में किसी तरह असाधन न आने पाओ होना चाहिए और बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दीजिए शरीर की बात ले लीजिए अगर मैंने अपने को साधक स्वीकार किया है तो शरीर को आलस्य में बड़े बनने देंगे आलस्य जन देंगे कि शरीर को श्रमिक बनाएंगे भारत से प्यार देना चाहिए एक बात हो गई शरीर की सेवा के लिए सफाई और स्नान और भोजन और विश्राम ये सब इसको इस शरीर को कितनी आवश्यकता है उतना ही में उसका काम पूरा करना चाहिए अब शरीर को जो खाद्य पदार्थ अनुकूल नहीं पड़ता है स्वास्थ्य के वश होकर खा लेते हैं और फिर शरीर में रोग प्रवेश कर जाता है फिर उसके लिए दवा इलाज का इंतजाम करते हैं तो यह साधन का है ये नहीं है इस युग के महापुरुष महात्मा गांधी ने अपने स्वास्थ्य संबंधी विचारों में जगह लिखा है कि बीमार होना मनुष्य के लिए लज्जा की बात होनी चाहिए क्यों स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन किया सर्वांश में यह बात पति ना भी उतरे कभी भी साधक होने के नाते कम से कम हमको इतना ध्यान तो जरूरी रखना चाहिए मन की खुशी के लिए मन के नियमों को पूरा करने के लिए शरीर को रोगी न होने दें मन का शौक पूरा करने के लिए शरीर को रोगी बना देना और शरीर के पोषण के लिए मन को दूषित कर देना ये भी होता है शरीर के सुख को ध्यान में रख करके वो नहीं करना चाहिए तो करते हैं हम तो मन रोगी हो जाता है मन दूषित हो जाता है अपने व्यक्तिगत संस्कृति सामग्री जारी है आपने परिवार में पड़ोस में कुटुंबी में संबंधियों में कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी जानकारी में है कि जिसको सहायता की ज्यादा जरूरत है तो अपने सुख का तो ख्याल करके हम खाएंगे हम पहनेंगे हम पहेंगे हम सुख से रहेंगे इस बात का ध्यान करके अगर आंखों के सामने आए हुए तौर से आंख बंद कर लिया जाए तो हृदय कठोर और मन दूषित हो जाएगा कि नहीं इन बातों पर सामान्यता ध्यान नहीं दिया जाता साधन शब्द का अर्थ यह लिया जाता है कि आप शुद्ध आसन पर बैठते हैं कि नहीं प्रतिदिन स्नान करते हैं कि नहीं अगर अगर साकार उपासक हैं तो पूजा पाठ करते हैं कि नहीं कि अध्ययन करते हैं कि नहीं गुरु से मंत्र धर्मी है कि नहीं तो ठीक है मनुष्य मनुष्य है देहधारी होने के कारण शरीर के तादात्म से बुद्धि उसकी स्थूल स्तर पर आ गई है तो इन सब बातों का भी अर्थ है अपनी स्थिति को दृढ़ करने में ये बातें सहायक होती हैं लेकिन जो खास दिन का रूटीन है तुम्हारा जीने का उसमें अगर ऐसा व्यवहार रखो ठीक है पूजा को हम दो घंटे करते हैं ध्यान और भजन और स्वाध्याय और मनन को हम तीन तीन घंटे तक करते हैं सवेरे और अच्छी बात है लेकिन ध्यान भी करते हैं लेकिन दिन भर के व्यवहार में इस बात का ध्यान नहीं रखते कि शरीर की सेवा के लिए मन को दूषित मत करो मन की खुशी को पूरी करने के लिए शरीर को रोगी मत होने को एक शरीर को सुखी रखने के लिए दूसरों के दुख की ओर से आंखें बंद कर लो तो हृदय की कठोरता बढ़ जाएगी अपने मन को खुश करने के लिए दूसरों के दुख का ध्यान मत रखो तो स्वामी जी महाराज ने इस कर्तव्य विज्ञान में इस बात को बड़ा महत्व दिया कि जो सुख अब कितनी प्रकार की उसमें तो मुझे लगता है कि कितना भी करोड़पति हो जाओ और तो बोली होगी अरे दो तो चार महीने करना मदद दो मेरा चार छह घरों हो जाते हैं उससे ज्यादा एक समय में एक रात में करोड़पति होने से कोई बहुत ज्यादा खाती लेता हो गरीब होने से किसी को नहीं खाया जाता ऐसी बात तो होती नहीं है शरीर की आवश्यकताएं तो लगभग सब किसी की एक सीढ़ी है एक सीमा के भीतर ही है लेकिन केवल अपना एक झूठा संतोष कि मैंने खूब धन कमा लिया मैंने बढ़िया मन बना लिया हमने बच्चों के लिए काफी इंतजाम कर दिया ऐसा सोच करके दूसरे वह धर्मात्मा नहीं हो सकता स्वामी जी महाराज ने मनुष्य के जीवन में साधना के प्रारंभ में धर्मात्मा होने पर बहुत जोर डाला है और संगम टीका लगाने से आप धर्मात्मा हो जाएंगे यह आवश्यक बात नहीं है लेकिन दूसरों को दुख देकर सुख हम नहीं लेंगे अर्थात वह सुख मुझे नहीं चाहिए जो दूसरों के लिए दुखदायी होता है अगर इस बाकी सब बातों को छोड़ दीजिए शुद्ध भौतिक वाद की दृष्टि से विचार करिए अध्यात्मवाद को भी छोड़ दो ईश्वरवाद को भी छोड़ दो केवल भौतिक वाद की दृष्टि से विचार करो तो प्रकृति की रचना में दुर्बल और सबल दोनों प्रकार के प्राणी हैं कि नहीं है तो सबल और दुर्बल एक ही सृष्टि में एक साथ एक समय में रहते हैं सबक के द्वारा दुर्बलों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए अगर सबल व्यक्ति दुर्बल की रक्षा करने को नहीं सोचता है तो उसको बाधित कर सकेंगे हम नहीं कर सकेंगे अगर परिभ्रम हो जाए है समाज को लोग सोचते हैं कि जहाँ जहाँ अधिक अधिक सुख दिखाई देता है तब छीन खान करके बांध बूट करके और छीनते न बने रखते न बने तो आग लगा के जला के हम भौतिकवादी हो गए तो गलत बात है ना प्रकृति की संपत्ति आपने बर्बाद कर दी दुखियों को देख करके हृदय में ज्यादा हुई नाम लिया आपने की दुखियों को देख कर मुझे दर्द हो रहा है तो जिन जिन महापुरुषों के दिल में दुखी जनों के प्रति दर्द पैदा हुआ वे महापुरुष अपना व्यक्तिगत सुख भूल गए लगी नहीं है ठीक हुआ है अभी भी हो रहा है जिंदगी में कर्तव्य निष्ठ धर्म परायण व्यक्तियों के जीवन में दुखी जनता दुख घर कर जाता है वे व्यक्तिगत सुख को मिल जाते हैं व्यक्तिगत सुख में ले नहीं सकते उनसे लिया ही नहीं जाता है रहा ही नहीं जाता है सुख लेकर के अपने पास रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि मानव है शुभ भौतिक वार्षिक दृष्टि से आप विचार करें तो यह देखा हुआ जगत अगर इसी को सत्य माना जाए तो इसमें से दो प्राणियों को दो व्यक्तियों को सुख देने के लिए दस को नुकसान पहुँचाना कहाँ का न्याय हुआ जबकि बात हो गई तो है भौतिकवाद आध्यात्मवाद और आर्थिकवाद तीनों ही दार्शनिक दृष्टिकोणों को मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत आवश्यक माना शरीर लेकर संसार में हम रह रहे हैं तो भौतिकवाद की उपेक्षा कैसे करेंगे भौतिकवाद का पहला मंत्र क्या है कि जगत के नाते सभी को अपना मान लो प्रकृति चला रही है वो प्रकृति के रखे हुए जो भी प्राणी है जो भी शरीरधारी है मनुष्य है पशु पक्षी है पुरुषा प्रजा वनस्पति पौधे है वो तो सबके प्रति अपने मन का भाव भौतिकवाद का नहीं मंत्र गए दूसरों को दुखी देखते हुए स्वयं अकेले सुख भोगना भौतिक बात नहीं है बात है दूसरों को सुखी देखकर उसे तीन झपट कर विध्वंस कर देना नाश कर देना भौतिक बात नहीं है बात है सपन की मजाक के सत्संग का प्रयोग कर रही हूँ मैं इसलिए मैं निधर होती हूँ मुझे डर नहीं लगता है मेरा विश्वास है कि महाराज जी को दिव्य दृष्टि थी और उन्होंने जो देखा जो कहा तो अब अपने लोगों के लिए इस समय कौन सी बात ग्रहण करने के लायक है तो अपने लोग न भौतिकवादी हो न संग्रहण है न शुद्ध अभ्यासवादी है न शुद्ध आर्थिकवादी है मिला जुला हुआ का चल रहा है थोड़ा दक्षिणों के लिए कोई दर्द भी है थोड़ा थोड़ा ज्ञान वैभाजी की भी के लिए भी गुंजाइश है जिंदगी में और थोड़ा ईश्वर के लिए भी रखा है Yeah. ये सब प्राइमरी एस्पेक्ट है ये सब प्रारंभिक बातें हैं इन बातों पर ध्यान न दिया जाए अपने को साधक स्वीकार न करो जीवन में से सब प्रकार के असाधनों को खत्म न कर दो किया हुआ ध्यान किया हुआ जब हुई साधना किया हुआ नित्य नियम ऐसा कठिन नहीं होता कि आपको लगे कि मेरा जीवन पूर्ण हो गया अब कुछ करना शेष नहीं है ऐसा नहीं होता है तो साधन के जो जो दिव्यात्मक रूप है जिनकी महिमा हम लोगों ने जब वृत्ति संसार का चिंतन उसमें घुस जाता है क्या करें भगवान को याद करना चाहते हैं तो मरे हुए कुटुम्बियों का शोक सब हृदय में भर जाता है बेचैनी हो जाती है उनकी याद आने लगती है कैसे करें तो स्वामी महाराज ने जब दृष्टिकोण दिया साधक समाज को कि भाई देखो संसार की नश्वरता है संसार की परिवर्तनशीलता से और उसके संपर्क में रहने पर जीवन में जो असंतोष पैदा हुआ उस असंतोष साधन करें तो मन की अशांति मिले ये बात है कि नहीं ठीक तो ऐसे ही संत की शरण में बैठना पसंद किया था दुनिया ने अपने लिए बहुत कुछ किया और उससे संतोष नहीं मिला तो हमने कहा चलो जरा संतों के पास बैठकर देखते हैं कि उनके पास भी कुछ बढ़िया चीज है कि नहीं है नहीं रहना आदमी के भीतर ऐसी आवश्यकता होती है तो महाराज जी कहते हैं कि भाई संसार की ओर से थका हुआ